या हुसैन या हुसैन महबूब या हुसैन मैं रहूं या न रहूं मैं रहूं या न रहूं मेरा इस्लाम रहेगा मेरा पैगाम रहेगा मैं रहूं या न रहूं मैं रहूं या न रहूं आए फौज अश्किया मेरा इस्लाम रहेगा कुरान रहेगा मेरा पैगाम रहेगा मैं रहूं या न रहूं मैं रहूं या न रहूं मेरा इस्लाम रहेगा अब जोर तक हुसैन बहत्तर को रो चुके अकबर को रो चुके अली असगर को रो चुके एक दोपहर में बाबा फलश्कर को रो चुके फिर फौज बदन से मुखातिब हुए इमाम हुज्जत तमाम करता हूँ सुन लो मेरा पयाम मैं रहूं या न रहूं मैं रहूं या न रहूं मेरा इस्लाम फरमाते थे हुसैन के मैं बेकसूर हूँ रोशन है तुम पे चश्मे पयंबर का नूर हूँ फाकों से मैं निढाल हूँ जख्मों से चूर हूँ जख्मों पे जख्म प्यास की शिद्दत में खाऊंगा लेकिन मैं नाना जान से वादा निभाऊंगा मैं रहूँ या न रहूँ दरिया को तुमने छीन लिया मैंने कुछ कहा पानी दिखा दिखा के पिया मैंने कुछ कहा दावत बड़े जमा का दिया मैंने कुछ कहा हक पर हूँ मेरे हक में सिना बोल रही है सुन लो वो अजा मेरी जबा बोल रही है मैं रहूँ या न रहूँ मैं रहूँ या न रहूँ मेरा है लाइला की बका और कुछ नहीं वादा हो जेर तेग वफा और कुछ नहीं इसके सिवा लबों पे दुआ और कुछ नहीं राजी हूँ मुझसे मेरा खुदा चाहता हूँ मैं मैं हूँ हुसैन सबका भला चाहता हूँ मैं मैं रहूँ या न रहूँ मैं रहूँ या न रहूँ मेरा इस्लाम रहे मेरा पैर हमारा खुदा गवाह खत भेज के है तुमने बुलाया खुदा गवाह बेजुर्म तुमने मुझको सताया खुदा गवाह खंजर तले बुलंद मैं तकबीर करूंगा अपने लहू से खाक पे तहरीर करूंगा मैं रहूं या न रहूं मैं रहूं या न रहूं मेरा इस्लाम रहेगा मेरा पैर मैं और करूं यजीद की बै नहीं नहीं बदलूं अजल के डर से शरीयत नहीं नहीं जीने के बदले छोड़ू शहाद नहीं नहीं तुम कौन हो नकाब रुखों से हटाऊंगा मैं कौन हूँ ये लोग सिना पर बताऊंगा मैं रहूँ या न रहूँ दर खयाम पे जैनब को दी सदा आ ए मेरी गरीब बहन करीब आ ले आखिरी सलाम हुसैन गरीब का मकसद है मेरा क्या ये सबक तुझको याद है मेरी शरीक कार मुझे एतमाद है मैं रहूं या न रहूं मैं रहूं या न रहूं मेरा इस्लाम जैनब तड़प के बोली के भैया समझ गई भैया तेरे इशारे को बहना समझ गई मैं क्या तेरी गरीब सकीना समझ गई खुतबों से मैं हिलाऊंगी कसरे यजीद को मरने न दूंगी अब मैं किसी भी शहीद को मैं रहूं या न रहूं है बिजलियां जी से गिरे हुसैन उठी सुरख आंधिया नागा हसर हुसैन का आया सरे सिना कुरान सुना के सैयद मजलूम ने कहा लो नाना जान वादा वफा मैंने कर दिया मैं रहूं या न रहूं मैं रहूं या न रहूं ऐ सरवरो रेहान ये लम्हा अजीब है नैजे पे लब कुशा ये हुसैन गरीब है जैनब तुम्हारी शाम गरीबा गरीब है सब कुछ तेरे हवाले है अब तुम संभालना अपना ख्याल रखना सकीना को पालना